आप कह दें कि ए जाहिलो तो क्या तुम मुझे हुक्म देते हो कि मैं गैर अल्लाह की इबादत करूं